यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदयश्रताः अथमर्प्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथमर्प्यो मृतो भवति एतावद्यनुशासनम् आत्मा अस्ति इतव उपलब्धव्य तत्व भाव न च उपलब्धव्य उभयो अस्तित्वोपलब्ध तत्व भाव प्रसिद्ध वर्णन करते हैं कि यदि तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार करना है तो अस्थि अस्थि अस्थि कार्यनाथे भी यत अस्थि कारणम कार्य अन्वतम कार्याद व्यतिरिक्त तेन रूपेण आत्मा उपलब्ध किया ततच तत्व भावेन अन्वय व्यतिरेक साध्य साधन कार्य कारण आदि वर्जित भाव उपलब्ध किया उभयो अस्तित्वोपलब्ध से तत्वभाव प्रसिद्धि हैं कि पहले आत्मा की उपलब्धि करना चाहिए उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए अनुपलब्धि भाष रही है अहम आत्मान न जानामी मैं अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ ऐसा आपको मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है एक बात है तो अहम आत्मा हम ब्राह्मणोहम हम तो हम क्रियावान हम तो मैं अपने को जानता हूँ परंतु मैं मनुष्य हूँ मैं गोरा हूँ मैं काना हूँ मैं क्रियावान हूँ हूँ भोक्ता हूँ मैं विपरीत समझा अपने आप को तुम विपरीत जानते सचमुच अपने आप को नहीं जानते तो अगर कोई गांव का आदमी आके आपको कहे कि आप आत्मा को नहीं जानते हैं तो आप नहीं मानना बोला परंतु यदि आपको खुद को ही ऐसा मालूम पड़ता हो कि मैं अपने आप को नहीं जानता तो अपनी अनुभूति का तिरस्कार भी मत करना इस पर विचार करना ये लाउड स्पीकर लगा के पर्चा छाप के गांव के लोगों को बुला के ये कहना कि तुम अज्ञानी हो पहले तो लोगों को बुलावे और फिर कहें कि अज्ञानी हो तो ये हमारी प्राचीन शिष्ट परंपरा नहीं है प्राचीन शिष्ट परंपरा यही है कि जब स्वयं मनुष्य अपने को ज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी मान करके और विपरीत भावना से भ्रांति से दुखी हो करके गुरु की शरण में आवे और कहे कि मैं अज्ञ हूँ मुझे ज्ञान दीजिए मैं भटका हूँ मुझे रास्ता बताइए तब उसको बताया जाए नहीं तो इस ब्रह्ममयी सृष्टि में ब्रह्मरूप सृष्टि में ये भी अनुभव होता हो कि मैं दुखी हूँ तो दुखी क्यों हो भाई कि तो वासनाओं के कारण तो वासनाएं क्यों हैं ऐसे संस्कार हैं कैसे संस्कार कहाँ से आए का कर्म से आए कर्म कहाँ से आया है का कर्तापन से आया है कर्तापन कहाँ से आया देखो बोले कि कहीं न कहीं आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते तुमको मालूम पड़ेगा कि ये तो मैं नहीं जानता तो जब ऐसा मालूम पड़े कि ये तो मैं नहीं जानता तो जानने की कोशिश करनी चाहिए ये जब तक तुम्हारा अपना सवाल न हो कहते तो हैं भाई सिखाया पढ़ाया हुआ जो बेटा है है ना वो वकील के सामने जिरा करने पर नहीं दिखता है वो ऐसे भी बोलते हमारे गांव में एक जरा गंदा है बात तो गंदी है तो जिसकी बहुत सराहना होती है ना खूब सराहना सुनने को मिले वो गांव की बात बार बताया था कि बम्बई में ऐसे समाज में गांव की कोई अशिष्ट बात नहीं बतानी चाहिए वो है सराहल दिया डोम घर जाने जिस लड़की की बहुत तारीफ की जाती है ये बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है वो अपनी अच्छाई के घमंड में गलत चुनाव कर लेती है और गांव की बोली में है सराहल दिया डोम घर जाली तो बहुत सराहना भी नहीं होनी चाहिए आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण करना चाहिए आप स्वयं देखो कि आपको दुख है कि नहीं दुख है तो वासना है कि नहीं और वासना है तो रागव द्वेष है कि नहीं रागव द्वेष है तो संस्कार है कि नहीं और संस्कार है तो कर्म के कर्ता तुम हो कि नहीं और दुख तुमको है तो तुम भोक्ता हो कि नहीं और ये जो तुमने अपने को कर्ता और भोक्ता मान रखा है ये वासना की परंपरा क्या शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है ये तो बिल्कुल गलत है शरीर के साथ समाप्त नहीं होती तो हम लोगों ने देहात में देखा है बीज बोते हैं खेत में बीज नष्ट हो जाता है पौधा निकलता है बहुत बीज जो है वो फूलता है फूल के फटता है उसमें से अंकुर निकलता है थोड़े दिनों में बीज नष्ट हो जाता है और वो जो अंकुर दिखता है ना उस अंकुर के सिरे पर फिर वैसे एक बीज की जगह पर दस बीज और निकल जाते हैं एक आम का बीज गाड़ते हैं अब आम की जड़ में खोदोगे तो कहीं मिलेगा पांच हजार दस हजार आम हर साल निकलते हैं उसमें से तो ये जो ख्याल है कि जड़ का जो बीज है उसका संस्कार तो उसके तने में और फल में गया और चैतन्य जो बीजवान बना हुआ है उसका संस्कार नहीं जाएगा ये गलत है हो अच्छा तो फिर शुरू से विचार करो हमारी प्रणाली है विचार करने की अन्वय और व्यतिरेक जैसे घड़ा है तो उसमें मृतिका का अन्वय है माने घड़े में मिट्टी रहती है सच पूछो तो घड़े में मिट्टी नहीं रहती है मिट्टी में एक शकल की जो कल्पना कर दी गई है बिना वजन बढ़ाए मिट्टी का वजन बढ़ाए बिना मिट्टी को देश से बाहर किए बिना मिट्टी को काल से बाहर किए बिना हैं? एक देश की उपाधि से एक काल की उपाधि से मृतिका में जो एक शकल बना दी गई है उससे मृतिका का ही नाम घड़ा हो गया है के से वो सत्यम आप सुनते हैं वस्तु मिट्टी है और कल्पना है घड़ा तो बिना मिट्टी के घड़ा नहीं होता इसलिए घड़े में मिट्टी का अन्वय है हमारे कार्य में कारण का अन्वय होता है और घड़े की शकल फूट जाने पर भी मिट्टी रहेगी इसको व्यतिरेक बोलते हैं माने घड़े से मिट्टी अलग है घड़े में मिट्टी भरपूर है और घड़े से मिट्टी अलग है आकार का नाम मिट्टी नहीं है घड़े के आकार का नाम मिट्टी नहीं है आकार कल्पित है और मृतिका सच्ची है वाचारम्भम विकारो नामधेयम मृत्यु सेव सत्यम इसी को शास्त्र में अन्वय व्यतिरेक कहते हैं जो अपने कार्य में अनुगत सत्ता है उसको अन्वित बोलते हैं अन्वित और वही सत्ता अपने कार्य से व्यतिरिक्त है उसके अलावा है उसके सिवा है है ना उसको व्यतिरिक्त बोलते हैं तो कारण सत्ता जो है वो अनियत और व्यतिरिक्त होती है कारण सत्ता का कार्य में अन्वय और व्यतिरेक होता है अब आप देखो अपने अन्वय व्यतिरेक का जरा विचार करो जागृत और स्वप्न में और सुषुप्ति में आत्मा का अन्वय है ये जागृत का साक्षी स्वप्न का साक्षी सुषुप्ति का साक्षी इसके बिना जागृत स्वप्न सुषुप्ति सिद्ध नहीं होती और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आत्मा व्यतिरिक्त है इसको व्यावृत्ति और अनुवृत्ति भी बोलते हैं वेदांत के शब्द में अन्वय को अनुवृत्ति बोलते हैं और व्यतिरेक को व्यावृत्ति बोलते हैं हैं? माने जब तुम हो तब सारी दुनिया भागती है तुम्हारा सबके साथ अस्तित्व है सुसुप्ति में तुम हो स्वप्न में तुम हो जागृत में तुम हो और जागृत न रहने पर भी तुम हो स्वप्न न रहने पर भी तुम हो और सुषुप्ति न रहने पर भी तुम हो तो अन्वय व्यतिरेक की विधा से विधा माने प्रकार यदि विचार करें तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का अन्वय है और आत्मा सुसुप्ति के न होने पर भी जागृत में है जागृत के न होने पर भी सुसुप्ति में है और जागृत स्वप्न दोनों के न होने पर भी स्वप्न में है और जागृत और स्वप्न दोनों के न होने पर भी सुसुप्ति में है इसलिए तीनों अवस्थाओं से आत्मा व्यतिरिक्त है ये बात भी मैंने है ना ये जो समझ का एक नमूना है वो बताने के लिए थी अब आप जरा वृत्ति पर आओ बोला चाहे तुमको जगत अलग अलग मालूम पड़े तो तुम होगे और जगत एक में मिलाया हुआ मालूम पड़े तो तुम होगे और जगत का अभाव मालूम पड़े तो तुम होगे क्योंकि जिसको मालूम पड़ेगा वो तो होगा होगा है? घड़ा बना हुआ दिखे तो तुमको दिख रहा है घड़ा फूटा हुआ दिखे तो तुमको दिख रहा है और घड़ा का न होना दिखे तो, तो तुमको दिख रहा है, हैं? तो घड़े के होने से घड़े के फूटने से घड़े के न होने से तुम व्यतिरिक्त हो जुदा हो है? लेकिन घड़े का फूट जाना घड़े का होना और घड़े का न होना ये बिना तुम्हारे मालूम नहीं पा सकता तो तुम घड़े की सब अवस्थाओं में अन्वित हो और सब अवस्थाओं से व्यतिरिक्त हो अब देखो एक एक बात बीच में और सुना लेते हैं कि वेदांत शास्त्र में जो ईश्वर माना जाता है वो अनुमान सिद्ध ईश्वर नहीं माना जाता बोला अनुमान से ईश्वर की सिद्धि वेदांत में नहीं मानी जाती उसको गलत माना जाता है जैसे न्याय दर्शन में ये सिद्ध करते हैं ना कि प्रत्येक कार्य जो होता है वो कर्ता के बनाने से उत्पन्न होता है जैसे घड़े को कुम्हार बनाता है हैं? हाँ। जैसे खेती ही किसान करता है तो प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति कर्ता के द्वारा होती है तो चूंकि ये विश्व भी एक कार्य है इसलिए ये अपने कर्ता ईश्वर के द्वारा बनाया गया है ये अनुमान हुआ वेदांती लोग इस अनुमान को नहीं मानते हैं वेदांती लोग कहते हैं कि तुम्हारे सब कल्पना ही कल्पना है दो परमाणुओं से एक अणु ईश्वर बनाता है ये कल्पना है, हैं? तो अणुओं से प्रसरेणु बनता है ये भी तुम्हारी कल्पना है बनाता है ईश्वर ये भी तुम्हारी कल्पना है क्योंकि जहाँ अणु को निरवय निरवय माना निरंश माना उसमें कोई हिस्सा नहीं मानता वहाँ ईश्वर भी अगर दो परमाणुओं को जोड़ेगा तो बिना हिस्से के परमाणु अपने एक एक अंग से मिल के दबल हो जाएंगे कि एक दूसरे में लीन हो जाएंगे तो बिल्कुल परमाणु से सृष्टि नहीं हो सकती और न तो ईश्वर को बनाते कभी ऐसा देखा गया है जो चीज कभी देखी नहीं गई उसका अनुमान ही नहीं होता धुआं और आग देखी हुई होती है व्याप्ति ग्रह होता है परामर्श होता है है ना अनुमान अनुमान माने आप जानते होंगे ना मान माने प्रत्यक्ष और अनुमाने पीछे जो प्रत्यक्ष के पीछे चले उसका नाम अनुमान पीछे चलने वाला प्रमाण पीछे चलने वाला प्रमाण तो जहाँ अग्नि और धूम का संबंध गृहित होता है ज्ञात होता है वहाँ धूम को देख करके अग्नि का अनुमान हो सकता है लेकिन जहाँ अग्नि और धूम का संबंध ज्ञात नहीं है वहाँ अनुमान नहीं हो सकता इसलिए वेदांत मत में ईश्वर प्रत्यक्ष से अनुमान से उपमान से अर्थापत्ति से अनुपलब्धि से सिद्ध नहीं है तो तब वो कैसे सिद्ध है बोले केवल शब्द प्रमाण से सिद्ध है कि शब्द प्रमाण से कैसे सिद्ध है आपको इसका नमूना बताता हूँ प्रमाण से ही यदि ईश्वर सिद्ध न हो है ना तो कल्पितांत का तिरस्कार करके आत्मा के साथ एकता उसकी हो ही नहीं सकते कल्पितांत का परिहार करने पर आत्मा में जो कल्पित अंश है उसका त्याग कर देने से और ईश्वर में जो कल्पित अंश है उसका त्याग कर देने से एकता का अनुभव हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं अस्थि अभियान जरा देखो ऐसे बोले जैसे हम में ये देखने में आता है कि मृतिका का लय जल में हुआ एक कल्पना करते हैं शब्द से और जल का अग्नि में हुआ और अग्नि का वायु में हुआ इसकी प्रक्रिया हो क्योंकि जितना द्रव ही जम करके ठोस बनता है जो तरल है वो जम करके ठोस हो जाता है तो द्रवांश ही हाँ, द्रवांश ही कठोर बनता है पृथ्वी कठोर है और जल जो है वो द्रव है और उष्णता ही द्रव बनती है जो गर्म है वही पिघलता है और जहाँ गति होती है वही गर्मी आती है और जहाँ अवकाश होता है वही गति होती है तो कठोरता कहाँ है क द्रवता में द्रवता कहाँ है का उष्णता में उष्णता कहाँ है क गति में क गति कहाँ है का अवकाश में अवकाश के बिना गति सिद्ध नहीं होगी इसलिए गति में अवकाश अनुगत है गति के बिना उष्णता सिद्ध नहीं होगी इसलिए उष्णता में गति अनुगत है और उष्णता के बिना द्रवता सिद्ध नहीं होगी इसलिए द्रवता में उष्णता अनुगत है और द्रवता के बिना कठोरता सिद्ध नहीं होगी इसलिए कठोरता में द्रवता अनुगत है अब कठोरता से द्रवता का व्यतिरेक है द्रवता से उष्णता का व्यतिरेक है उष्णता से गति का व्यतिरेक है और गति से अवकाश का व्यतिरेक है तो अवकाश दशा में जो ये प्रपंच ऐसे समझो अवकाश दशा में अवकाश दशा में ये जो प्रपंच अभाव दशा को प्राप्त जो ये अभाव की दशा को प्राप्त जो ये प्रपंच वो किसको मालूम पड़ता है हमको ही मालूम पड़ता है तो प्रपंच की प्रलय दशा होवे तब भी हमको मालूम पड़ेगी और प्रपंच की स्थिति दशा होवे तो भी हमको मालूम पड़ेगी और प्रपंच की सृष्टि दशा होवे तो भी हमको मालूम पड़ेगी तो व्यष्टि दृष्टि से यदि हम अवलोकन करते हैं तब भी हमारा ही अन्वय व्यतिरेक व्यष्टि में मालूम पड़ता है और समष्टि दृष्टि से विचार करते हैं तब भी समष्टि दृष्टि से ही हमारा ही अन्वय व्यतिरेक सारी सृष्टि में भागता है तो समष्टि दृष्टि से जो हमारा अनुगत रूप है और व्यतिरिक्त रूप है उसको ईश्वर बोलते हैं और व्यक्ति दृष्टि से जो हमारा अनुगत कार्यी में समष्टि और व्यक्ति का भेद है वो तो शास्त्र से अवगत जो कारण दशा उसका साक्षी जो चैतन्य है और इस समय प्रत्यक्ष रूप से अवगत जो व्यस्टि दशा इसका जो साक्षी इन दोनों साक्षियों को श्रुति जो है वो उपाधि अंश का परिहार करके एक बताते हैं तो अस्थि थी अब देखो कि अस्थि क्या है गड़ा टूट गया तो मिट्टी अस्थि है है ना मिट्टी गल गई तो जल अस्थि है जल सूख गया तो अग्नि अस्थि है और अग्नि जो है वो जब निराकार हो गई तो गति अस्थि है शक्ति अस्थि है और शक्ति जो है वो किस आधार में है बिना आधार के शक्ति सिद्ध नहीं होती तो आकाश अस्थि है और आकाश अस्थि कहाँ मालूम पड़ रहा है बोले मन में अस्थि प्रत्यय कहाँ है मन में किसको मालूम पड़ रही है का मैं को इसी को बोलते हैं परिच्छन परंतु सर्व के आधार के रूप में देश काल वस्तु बिना वस्तु के देश काल की कल्पना नहीं होती इसलिए वेदांत में ज्यादा विचार वस्तु का किया जाता है देश काल का कम किया जाता है क्योंकि द्रव्य की उपाधि से ही स्थान मालूम पड़ता है और द्रव्य की उपाधि से ही काल भी मालूम पड़ता है कोई चीज बदलने वाली हो तो क्रम की संबित हो और कोई चीज फैलने से मटने वाली हो तो स्थान की संबित हो यदि वस्तु ही न हो गए तो स्थान और काल की कल्पना ही नहीं होगी इसलिए वस्तु के विचार से देश और काल का विचार जो है वो परिसमाप्त हो जाता है अब आगे इसका विचार देखो तो अस्थिति अस्ति देव उपलब्ध तो अस्थि अस्थि भाव का व्यभिचार कहीं नहीं हुआ अभाव हस्ती भाव हस्ती अभाव है भाव है दोनों में अस्थि है तो अस्थि रूप से जो सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तु में विद्यमान है जिसका रूप है अस्थि अस्थि के सिवाय और कुछ नहीं इसके रूप में उपलब्ध कौन करेगा कहा उपलब्धा कौन कहा देखो एक अस्थि प्रपंच का भाव है और प्रपंच का भाव नहीं है इन दोनों की उपलब्धि किसको होती है कमय को तो प्रपंच की भावा भाव की उपलब्धि है ना प्रपंचा प्रपंच के भाव और अभाव दोनों की उपलब्धि में जो अस्तित्व है वो अस्तित्व किसको मालूम पड़ता है बोले मैं को मालूम पड़ता है असल में मैं की उपस्थिति में जो होता है वही अस्थि होता है जो चीज अहम की उपस्थिति में होवे तो अस्थि और अहम की उपस्थिति में न होवे तो नास्ति परंतु नास्ति में भी अस्थि है क्योंकि अहम की उपस्थिति में ही नास्ति भी है नारायण तो इंद्रियों के कारण देखो एक ही सत्ता इंद्रियों के कारण अनेक भात रही है आप गड़बड़ में बिल्कुल नहीं पड़ना ये यौन संबंध अगर सृष्टि में नहीं होता तो स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता केवल लैंगिक यौन संबंध ही स्त्री पुरुष को पृथक पृथक करने वाली चीज है मिट्टी पानी आग हवा वायु में कोई पार्थक्य नहीं है एक ही हो व्यवहार की दृष्टि से एक कर्म मीमांसा दर्शन में ऐसा बढ़िया इसका विवेक है वो तो अलग है ना आप धर्म की कथा तो सुनते नहीं ब्रह्म की सुनते हो इसलिए हमको ऐसे सुनाना पड़ता है है ना और धर्म की कथा सुनते तो हम दूसरी तरह से सुनाते हो स्त्री में ग्रहणात्मक तत्व होता है और पुरुष में त्यागात्मक तत्व होता है दोनों का देखो भेद बता दें है ना तो चंद्र चंद्र तत्व प्रधान स्त्री और सौर तत्व प्रधान पुरुष तो त्याग प्रधान पुरुष और तपा प्रधान नारी गर्भाधान की तपस्या करनी पड़े स्त्री को पुरुष को नहीं ये सब भेद व्यावहारिक हैं इनकी अस्थि और नास्ति का जो साक्षी है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं धर्म में जो भेद की कल्पना है धर्म में और धर्म और ब्रह्म दोनों में माँ है भला धर्म के अंत में भी माँ है और ब्रह्म के अंत में भी माँ है ये तो आप जानते हैं प्रेम के अंत में भी माँ है ये माँ कौन सा है ऐसे ही विनोद के लिए आपको बता देते हैं ये जो अ उ म विश्व तेजस प्राग है ना अ उ वो प्राग में ओम में जो आखिरी अक्षर है म धर्म कांत वही है म प्रेम कांत भी वही है और ब्रह्म का अंत भी वही है तो और आत्मा कौन है बोले अमात्र है हाँ इसमें माँ की गति नहीं है इसमें न धर्म की गति है न प्रेम की गति है न भ्रम की गति है बोला न भ्रम की गति है न इसमें आत्मा का माँ है न इसमें ब्रह्म का माँ है आत्मा का माँ भी नहीं है और ब्रह्म का न भी नहीं है ये ऐसा अमात्र ये ऐसा अमात्र है ये तो हम लोग तो क्या नाम है वो शाब्दिका भाई हम जैसे बोलते हैं हम शब्दानुशासन को शब्द के निरावरण रूप को जानते हैं शब्द का निरावरण रूप कौन है जब तक शब्द है तब तक वक्ता है ना और जब शब्द नहीं है तब अवक्ता और वक्ता और अवक्ता दोनों में जो एक है तो तत्व है वक्तृत्व और अवक्तृत्व दोनों औपाधिक है वो शब्द के भाव की उपाधि से वक्तापन है शब्द के भाव की उपाधि से शब्द की उपाधि से वक्तापन है और शब्द के अभाव की उपाधि से अवक्तापन है और जो वक्तापन अवक्तापन दोनों जिसमें कल्पित है दोनों जिसमें अध्यस्त है दोनों का जो साक्षी है उसका नाम है तत्व तो इन्होंने क्या बताया नारायण अस्थित देवों को लगभग आप अस्थि की वंश परंपरा मत जानो केवल अस्थि को जानो है केवल इतने क्या है उसके विशेष जहाँ अस्थि के विशेष नहीं भाग रहे हैं केवल अस्थि मात्र भाग रहा है वहाँ आप पहुँच जाओ वहाँ निर्विशेष अस्थि और निर्विशेष ज्ञान दोनों में कोई भेद नहीं है तो पहले स्वाभाविक रूप से सुपाधिक रूप से जानो इसी को अस्सी देवों को दिया भाष्यकार ने बताया जरा इस प्रसंग में सृष्टि की भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं पुण्यवादी बौद्ध जगत का उपादान नहीं मानते हैं और निमित्त भी नहीं मानते हैं दोनों नहीं मानते हो और जैन उपादान और निमित्त दोनों मानते हैं और नारायण चार बाग उपादान तो मानते हैं लेकिन निमित्त नहीं मानते आप ये समझ आपके ध्यान में ये बात आके गई होगी चार बाग माटी मानता है कुम्हार नहीं और ये दुनिया का घड़ा बन गया जैन माटी और कुम्हार परंतु कुम्हार प्रत्येक जीव को कुम्हार मानते हैं अलग अलग बोला एक एक कुम्हार नहीं मानते एक कुम्हार नहीं मानते प्रत्येक जीव को अलग अलग कुम्हार मानते हैं निमित्त और उपादान दोनों मानते हैं बोला और बौद्ध जो है ना वो निमित्त मानते न उपादान न माटी न कुम्हार ये शून्य ही मानते हैं अब इनकी बात बताता हूँ वैदिक वैदिकों का सिद्धांत होता था अवैदिकों का भी ले लो इसे चार बात उपादान को तो मानता है और निमित्त को नहीं मानता है माने माटी को मानता है कुम्हार को नहीं मानता है वो इसे मुसलमान और ईसाई निमित्त को मानते हैं उपादान को नहीं मानते हैं हाँ वो कुम्हार को तो मानते हैं लेकिन माटी नहीं मानते उसके संकल्प से सारी सृष्टि मानते हैं तो ये हो गया अवैधिक दर्शन इतना ही है ये पांच भेद हुए चार ही हुए चार ही हुए समझो उपादान को मानना निमित्त को नहीं मानना है उपादान निमित्त दोनों को नहीं मानना उपादान निमित्त दोनों को मानना है और केवल निमित्त को मानना ये अवैधिक दर्शन का भेद है इसको तो जैसे गणितज्ञ लोग जो है ना वो एक एक दो और दो दो चार और चार चार आठ जैसे बनाते हैं वैसे ये दार्शनिकों की दृष्टि में गणित गणित से मतों का विभाजन हुआ है गणित की रीति से गणित की रीति से मतों का विभाजन हुआ है हाँ। अब आपको हाँ, अब देखो का ईश्वर निमित्त कारण है और परमाणु जो है वो वो उसके असत उपादान है असत उपादान बोलते हैं जिनमें कार्य नहीं है ऐसे उपादान है लीला है पर जैन मत की अपेक्षा इसमें विशेषता क्या है इसमें कुम्हार एक है बोला कुम्हार एक है एक है घड़े के खरीदार अनेक हैं घड़े के खरीदार भी हैं जीव अनेक हैं है? और घड़े भी अनेक हैं और उनका उपादान माटी भी है ये ये बहुत तो वादी है वो ये न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो जो है ना ये बहुत तो वादी है अब देखो सांख्य में सांख्य में बोले कि परमाणु तो बहुत सारे होते हैं ना हाँ, एक सत कारण एक है माने सबकी सत्ता जिसमें छिपी हुई है ऐसा एक कारण है पुरुष ही अलग अलग हैं पुरुष ही अलग अलग हैं हाँ। प्रकृति उपादानवादी हैं ये तो इसमें दो भेद होता है आपको एक बहिरंग उपादानवादी एक अंतरंग उपादानवादी ये तो गिनती की बात है ना सृष्टि का उपादान बाहर है कि भीतर है तो जो लोग परमाणु को सृष्टि का उपादान माने मसाला माटी मानते हैं वो लोग परमाणु को जो मानते हैं वो तो सृष्टि का उपादान बाहर मानते हैं और जो लोग प्रकृति को उपादान मानते हैं वो अंतरंग मानते हैं क्यों कि देखो पुरुष और सृष्टि दोनों के बीच में प्रकृति है तो सृष्टि से अंतरंग और पुरुष से बहिरंग पुरुष जो है ये सृष्टि का दृष्टा है प्रकृति का भी दृष्टा है बोला तो सृष्टि और पुरुष के बीच में यो समझो पुरुष और बुद्धि के बीच में प्रकृति रहती है कि नहीं तो बुद्धि से अंतरंग होने के कारण प्रकृति अंतरंग उपादान है ऐसे देखो जैसे सुसुप्ति और फिर जागृत और फिर मैं कौन हूँ ये उत्थान ये सांख्य दर्शन हुआ हम बंबई में जगते हैं तो नींद तो टूट जाती है प्रकृति अवस्था तो भंग हो गई लेकिन मैं वृंदावन में हूँ कि बम्बई में हूँ ये फुरता नहीं है कहा हूँ कौन हूँ मेरा नाम क्या है ये भी नहीं पूरा इसका नाम महत्व हुआ लेकिन जब ये फुर गया कि मैं अखंड आनंद हूँ और ना बम्बई में हूँ तो अहंकार स्फुरित हो गया तो सुषुप्ति का भंग होना और अहंकार का जागृत न होना इन दोनों के बीच में जो स्थिति होती है उसको महत्व तो बोलते हैं उसी का नाम बुद्धि है वो <clears throat> समस्त बुद्धि तो अंतरंग अंतरंग उपादान है ऐसा सांख्य का सिद्धांत है और बहिरंग उपादान है ऐसा न्याय का सिद्धांत है चैतन्य के लिए प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होती है और ईश्वर जो है वो स्वयं संकल्प करके स्वयं संकल्प करके परमाणुओं को जोड़ के सृष्टि बनाता है बड़े अद्भुत अद्भुत इसकी माया है और इसके गणित हैं अब देखो ईश्वर एक है इसलिए परमाणुओं पर और संकल्पवान है संकल्प उसका आत्मधर्म है तो बनाता